सीता सचिव सहित दो पहुचे शृङ्गबेरपुर पहुचे जाये उतरे राम किन् दण्डवत हर सुविशे फल सचिव सिय किए पर सबहि सहित सुख पाए उराम गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करणी हरणि सब सुख सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर पहुँच गए वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की लक्ष्मण जी सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है कहि कहि कोटिक कथा प्रसङ्गा रामविलोकही गङ्गा सचिवहि अनुजहे प्रियहि सुनाये विबुधन देमहे मायाधिका पन्थ श्रम गय शुचि जल पियत मुदित मन भय सुमिरत जाहि मिटय श्रम भारु तहि यहलो कि व्यवहार अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं उन्होंने मंत्री को छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया श्री सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई इसके बाद सबने स्नान किया जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पतित पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नरलीला है भानुकुल के तु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है यह सुधि यह सुधि गुह निषाद लिये प्रिय बंधु बोलाय लिये फल मूल भेट भर भारा मिलन चले वो हिय शुभ पारा करी दंडवत प्रभु ही प्रभुहि कत अति अनुरागे सहज सलेह दिवस रघुराए पूछी कुशल निकट बैठाई जब निषाद राजगुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी नाथ कुशल पद पंकज देखे भय भाग भाग जन जन लेखे धरणी धनु धाम तुम्हारा मैं जनु चो सहित परिवारा कृपा करिय पुर धारिय पाओ थापिय जनु सब लोग सिहा कहु सत सब सखा सुजाना मोहिदेन प्रीतो आय सुवाना निषाद राज ने उत्तर दिया हे नाथ आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है आपके चरणार बिंदु के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हे देव यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ अब कृपा करके पुर सिंगवेरपुर में पधारिए और इस दासी की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें श्री रामचंद्र जी ने कहा हे सुजान सखा तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है दस दस चार बासु सचारिदस मुनि व्रत वे सुवहार ग्राम बास नहीं उचित सुनो वही भयो दुख भारो उनके आज्ञानुसार मुझे चौदह वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ